कुएं में भांग पड़ी है जो भी जाता मतवाला हाँ ये खपे हे खपे हे करियो हो करियो हो करियो अरे भी आए कने कंजर ख़बर अथव हे पायूं हो पायूं हो पायूं हो पायूं जो सादा के लिए दुख मिटा दे उस परमात्मा को आत्मा को तो जानते नहीं उसकी सत्ता से नश्वर चीज़ों के पीछे तुच्छ संसार के पीछे तुच्छ हो रहे हैं लोग